ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले जाएगी जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है वो उस रोशनी में चल पड़ते हैं और जब वो उन पर अंधेरा कर देती है तो खड़े रह जाते हैं और अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकतें छीन लेता बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है